कारण होने के कारण क्या नहीं हो रहा था प्रधान आदि की सिद्धि नहीं था उसने कहा जैसे गगन का कुसुम है कूर्म का केस है और और सस विषाण की तरह अभाव होने के कारण उनकी उपलब्धि नहीं हो रही तो ऐसी नहीं कहे ये सूक्ष्म होने के कारण उपलब्धि नहीं हो रही अब इनमें प्रधान आदि में जो आठ आपने कारण बताए हैं कौन कौन तो उसने का पहला क्या कहा था अति दूरात सामीप्यात मनो मनोनवस्थानात सौक्षम्यात नाथ और समाना विहाराचा ये कहा था तो इनमें से जो आठ कारण हैं आठ है ना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ हैं अच्छा, कार के द्वारा अनुक्त समुच्चय कह दिए तो आठ यथासुत जो आठ हैं उन आठ में से कौन सी ऐसी चीज है जो प्रकृति के अनुपलब्धि में प्रत्यक्ष होने में कारण है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा क्या सूक्ष्म के कारण कि दूर के कारण कि सामीप्य के अति सामीप्यात अति दूरात इंद्रिय घातात मनोनवस्थानात और सौक्षम्यात और मनु सम्याद व्यवधानात अभिभवात जैसे नक्षत्र मंडल वाला अभिभवात जल की तरह समानाभिहाराच वो तो सभी पर सभी कारण है सभी पर इस प्रकृति में कौन सा कारण है अच्छा। अलग अलग वस्तु के प्रति जैसे यहाँ पर है सामी प्यात वहाँ जो आकाश बहुत दूर पक्षी चले गए अति दूर आता है जल जल से मिल गया समाना समानाभिहाराच है सूर्य के कारण नक्षत्र मंडल नहीं दिख रहा है अभिभवात हो गया है और असौक्ष वाला कौन सा है परमाणु वाला आया था उसके पहले क्या आया था मनोन कोई वही कामनिया जिज्ञासा किसी का बताया था उसके बाद क्या कहा था इंद्रिया घात इंद्रिया घातात इंद्र बोधित्व आदि द्वारा उसके पहले क्या अतिशामी प्यास जो अंजनस्थ के लिए कहा था चक्षु जो अंजनस्थ है और अभिदूरा जो पक्षी है इनमें से कौन सा आठ जो कारण बताए हैं अनुपलब्धि में प्रत्यक्ष उनमें से कौन सा प्रकृति में ये प्रश्न आ रहा है हम्म। इस पर आगे वो लिखने जा रहे हैं कतमत पुनर एतेसु एतेसु कतमत कारणम जो आठ कारण है आठ कारणों के कारण विद्यमान पदार्थ भी प्रत्यक्ष नहीं होता जो विद्यमान पदार्थ है वह आठ यह जो कारण है इसके कारण इंद्रिय सुख की उपलब्धि नहीं होती है तो एतेषु अष्टसु कथरत कतमत चलेगा कतमत बहुसु अन्य बहुस कह इति कतमत बहुतों में कौन तो कौन प्रत्यय होता है डतमत वही कहने जा रहे हैं कतमत कारणम कतमत में क्या कतम शब्द है और अदनादेश हो गया क्योंकि कारण नपुंसक लिंग है कौन लिंग है इसलिए यहाँ पर कतरत बन गया ऐसे ऐसे पुल्लिंग होता तो कतमा हेतु कतमा हेतु ऐसा हो जाता इसलिए क्या कतमता पुनर एतेषु एतेषु पूर्वोक्तेषु अष्टु का अष्ट अष्ट अष्ट अष्ट जो अनुपलब्धि कारण भूतेषु प्रत्यक्ष के अनुपलब्ध मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्धि मैंने साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है ऐसे वह क्यों नहीं पर ये आठ कारणों के कारण न कि वस्तु के अभाव के कारण जैसे गगन पुष्प के अभाव के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता कूर्म के केश के अभाव के कारण कूर्म के केश का प्रत्यक्ष नहीं होता है सस विषाण के अभाव के कारण सस विषाण का प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसी बात नहीं है ये होने पर भी क्यों नहीं प्रत्यक्ष होता उन आठ कारणों में से प्रधान प्रधानादि नाम अनुपलब्ध एतेषु कतमत कारण मैंने प्रधान आदि की अनुपलब्धि मान असाक्षात्कार में जो आठ आपने कारण इनमें से कौन सा कारण है इत्यत आह सौक्षम्यात सौक्ष्म का परमाणु के लिए दृष्टान दिया सौक्षम्यात इस संधि पर कारिका बनाने जा रहे आठवीं कारिका में लिख रहे हैं आशंका है कि पूर्व तो जो अति आदि जो आठ जो कारण उनके मध्य में कौन सा कारण है जो हमारे प्रधान आदि को प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहा है तो का सौक्षम्या तदनुपलब्धिर नाभावात कार्यतस्तुपलब्धे महादादी तच्चक यत कार्यम प्रकट रूप स्वरूपम विरूपंचा सामान्य कार्य का हम लोग अर्थ कर लेते पहले उन्होंने सौक्षम्यात तद तद अनुपलब्धि नाम अनुपलब्धि नाम असाक्षात्कार क्यों सूक्ष्म होने से न अभावात इसे गगन से अभावात न उपलब्धि ऐसी बात नहीं क्यों कार्यतस तदुपलब्धे कार्य रूपी हेतु के द्वारा प्रधान आदि की उपलब्धि अनुमान से उपलब्धि मान अनुमान से ज्ञान हो सकता है कार्य तदुपलब्धे तस् मन तेसाम उपलब्धि मान ज्ञानम बोधा साक्षात्कार तो नहीं होगा पर बोध हो जाएगा किसके द्वारा हो जाएगा कार्यतः कार्य हेतु के द्वारा बताएंगे अभी किनका महदादि तच्च कार्यम जो महद है और अहंकार है पंच तन मात्राएं वो क्या है कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपंचा प्रकृति विकृति रूप है ना इसलिए लिखा महादादी तच्च कार्यम महादादि जो कार्य है वो प्रकृति स्वरूप भी है और प्रकृति के विरूपंचा कैसे तो अब लिख रहा है क्रम से इत आहा किसी ने पूछा कि आपने सौक्षम्याद अनुपलब्धि है सूक्ष्म निरवयवत्वात सूक्ष्म शब्द का पीछे अर्थ किया था निरवयत्व सूक्ष्म माने निरवय केवल हेतु किसमें जाएगा प्रकृति में आगे वाला सवय हो जाएगा सब निरवयत्वात प्रकृतिर अनुपलब्धे क्योंकि प्रकृति क्या है हमारी निरवय है आगे वाला सावय हो जाएगा कार्य जो होगा तो पहला वाला हेतु है मंजर वयवत्व रूपम सूक्ष्मत्वाद तेषाम नाम अनु उपलब्धिर न भवती ये कहा उन्होंने कहा भाई जैसे संसार है बड़ा जुमदा दृष्टांत आगे देंगे कि यहाँ छह रस हैं सातवा क्यों नहीं है इसके दीने कहने जा रहे हैं जैसे लोक में कट अम्ल कट अम्ल लवणोत्तिक्त भेदात रस रसना ग्राह्यो गुणो रसा सच षटविधा मधुराम्ल लवण कटु काषाय तिक्त भेदात पृथिव्याम सप्तविधम जले मधुर एव ये कहा तो जैसे छह रस हैं सातवां रस नहीं है इसलिए उसकी अभावात न थे है ही नहीं है इसलिए उसकी क्या नहीं होती है उपलब्धि नहीं होती है उसी प्रकार के जैसे षडविद जो हमारे रस अमलादि उनसे अतिरिक्त सातवा रस के अभाव होने से नहीं उपलब्ध हो रहा है ऐसी यहाँ स्थिति नहीं है जैसे वहाँ जैसे रस के साथ में रस ना होने से प्रत्यक्ष उसका कभी नहीं होगा न तो तथा यहाँ सौक्षम्याद प्रधानादि नाम अनुपलब्धो कारणम न तो अभाव अभाव होने से नहीं है सूक्ष्म के कारण उनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा विकार इसलिए सौक्षम्याद न भावात कुतः माने उन्होंने कहा कि प्रधान आदियों का अभाव नहीं है माने अभावात न अनुपलब्धि है ही नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं ऐसा बात नहीं है है फिर भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहे तो किसी ने कैसे हैं तो कार्यतः तदुपलब्ध जैसे हमारा छह रस है सातवा रस क्यों नहीं है कि है ही नहीं तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है उसी प्रकार किसी के कहना है कि अभावाद एवं अनुपलब्धि मन प्रधान आदि ये नहीं है इसीलिए उनकी उपलब्धि नहीं ऐसी बात नहीं है न अभावात अभावात न अनुपलब्धि अपितु सौक्षम्यात अनुपलब्धि अकार्यत तदुपलब्धि मैंने सौक्षम होने से अनुपलब्ध है अकार्य के कार्यता रूप हेतु के द्वारा उपलब्ध है उनका ज्ञान भी होगा न भाग कुतः कार्यतस्तुपलब्धि तद माने प्रधानम प्रधान लेना है पुरुष को नहीं ले सकते तत्पर से क्यों क्योंकि पुरुष किसी का कार्य कारण नहीं है इनके यहाँ पुरुष क्या है केवल भोक्ता है प्रकृति करते ही वह पुरुष केवल क्या है भोक्ता है और प्रकृति केवल क्या है करता है ला ला को उसको देती है और पुरुष केवल भोग करता है और किसी का कारण नहीं है इसलिए उन्होंने कारता कस उपलब्धि प्रधान सेवा पुरुष न तो पुरुष क्योंकि पुरुष का कोई कार्य नहीं है इसलिए यहाँ जोड़ के न तत्पर से केवल क्या लेना है तदुपलब्धि माने कार्यत तदुपलब्धि तस्य तद माने प्रधान से उपलब्धि ही प्रधान की वही लिखने जा रहे माने तद पद या सर्वनाम है तो सर्वनाम किसका परामर्श का है तो तत्पद से बुद्ध विषयत्वोपलक्षित तत्त धर्मावच्छिन्न तदादि नाम शक्ति तो तद कहाँ हाँ। कहाँ गए है ये मृत धातु तो नहीं होगा क्या कहाँ पर अरे आप बताए तुदादिभ्या सा तो गुण होता तो दति में तुंगंतुल पदस्ते तो परामृशति परामृशति क्या हो गया परामृशति वही कहने जा रहे हैं इति कार्यश तदनुपलब्धि तदिति प्रधानम परामृशति मान तद पद या प्रधान का बोधक है क्यों बोधक है तो उन्होंने कहा प्रधान पुरुष दोनों का क्यों नहीं है कहे जो प्रधान है वही सबका कारण है और पुरुष किसी का कारण है ही नहीं यदि कारण होता उसका कोई कार्य होता तो कार्य के द्वारा कारण की कल्पना की जाती कार्य लिंग अनुमान के द्वारा उसकी उपलब्ध इसीलिए कहा उसकी हो नहीं सकती पहले करे अतः पुरुष उपलब्धो प्रमाणम बक्षति संघात परार्थत्व ये सत्रहवीं कारिका में क्योंकि जो संघात में मतलब जो समुदाय घर मकान किसके लिए है कोई इस काम मालिक उसके भोग के लिए उसी प्रकार सत्य प्रकृति संपूर्ण जगत ये क्या एक संघात है इस संघात किसके लिए होता है दूसरे के लिए जिसके लिए वही नाम है पुरुष इस कारिका से वो सिद्ध करेंगे हाँ पुरुष में प्रमाण देंगे संघात परार्थत्वात्मा देंगे अर्थात तदुपलब्ध न तदुपलब्धो तो प्रमाणम मैंने पुरुष के उपलब्धि माने ज्ञान में तो आगे मूल कार स्वयं क्या कहेंगे सत्रहवीं कारिका में कहेंगे संघात परार्थत्वात अतः दृढ़तर प्रमाणावधारित इसका मतलब दृढ़तर प्रमाण होगा कि नहीं हो गया कार्य रूप प्रमाण हो गया कार्यता लिंगक हेतु के द्वारा प्रधान का हम क्या कर देंगे अनुमान कर देंगे तो प्रधान की अनुमित्यात्मक क्या हो जाएगा बोध मन उपलब्धि हो जाएगी उस पर कहने जा रहे हैं जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण की अप्रवृत्ति हुई अतः सातवा अर्थ नहीं सिद्ध हुआ उसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण की अप्रवृत्ति मात्र से प्रधान आदि की सिद्धि नहीं होगी वहाँ तो सिद्धि किससे हो रही है कार्यता लिंगक अनुमान से कार्यता लिंगक अनुमान से अब इस सब अनुमान वाले आकार देने जा रहे हैं न दृढ़तर प्रमाण अवधारित निश्चित दृढ़तर प्रमाण कौन हुआ कार्यतस्तुपलब्धि इत्याकारक कार्यता लिंग अनुमान रूप दृढ़तर प्रमाण की निश्चित हो जाने पर अवधारित माने निश्चित सती दृढ़तर प्रमाण की जब निश्चय निर्णीत हो जाने पर प्रधान प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम प्रत्यक्ष वहाँ प्रवर्तमान नहीं है कहाँ पर अर्थात दृढ़तर प्रमाणेन अवधारिति निश्चिति प्रधान आदव जो दृढ़तर प्रमाण के द्वारा अवधारित निश्चित कर दिए गए हैं प्रधान आदि उनमें प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम अयोग्यवात प्रत्यक्ष उसमें प्रवर्तमान नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष किसका होता जिसका महत परिमाण हो और ये क्या है निरवय है इसलिए इनका हो नहीं सकता है इसलिए कह रहे प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम माने प्रधान आदि में तद प्रत्यक्षम न प्रवर्तते क्यों प्रधान आदि नाम निरवयत्वेन तत्र योग्यता भावात माने प्रत्यक्ष की महत यदि उद्भूत रूप महत परिमाण और आलोक जब संयोग होता है तो किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है इनका क्या है निरवयत्वात सूक्ष्मत्वात इनमें जाएगा नहीं जैसे सावय दुणुक है उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होता है तो यदि हम महादादी को सावयो ही मान लें दुणुक की तरह तभी प्रत्यक्ष नहीं होगा इति वैकन इति निरवयत्वात न तो असत्वात मन नहीं है ऐसी बात नहीं है अयोग्यवा न प्रवर्त किम न प्रवर्तते प्रत्यक्ष प्रमाणम न प्रवर्तते प्रधान आदौ कल्पते देखो दृष्टान कल्पते सप्तमस्तु दसो न प्रमाणेन अवधारिते किसी ने कहा जैसे हमने कार्यता लिंग का अनुमान के द्वारा प्रधान आदि का जब निर्णय कर दिया प्रत्यक्ष क्यों नहीं जाता योग्यता नहीं है इसी प्रकार कोई सातवा एक रस है इसके लिए कोई अनुमान आदि प्रमाण नहीं है जब सातवें का कल्पक कोई प्रमाण नहीं है अतः वहां सातवा रस नहीं माना जाता है यहाँ कल्पक प्रमाण है इसलिए हम प्रधान को मानते हैं वही दोनों में अंतर दे रहा है वैयधिकरण दृष्टान्त कल्पते सप्तमस्तु रसो न नहीं सप्तम रस है न प्रमाणे न अवधारिता जो सप्तम रस है वह प्रमाण के द्वारा न अवधारिता इति न तत्र प्रत्यक्ष से अयोग्यता उसमें प्रत्यक्ष की अयोग्यता ही नहीं लगता ही नहीं हाँ तो क्यों नहीं जा रहा है अयोग्यवाद उसी ने कह दिया न तत्र प्रत्यक्ष से अयोग्यता शक्या अध्यवसातुन वहाँ प्रत्यक्ष का अयोग्य है सातवा है फिर भी प्रत्यक्ष ऐसा नहीं क्यों असत्वात कहना है वहाँ वहाँ असत्वात प्रत्यक्ष प्रमाणम न प्रवर्तते वहाँ प्रत्यक्ष की माने सप्तम रफ्ज में प्रत्यक्ष से अयोग्यता है यह मन निश्चय तुम न सक्या निश्चय नहीं वहाँ कहना चाहिए असत्वाद न प्रवर्तते अत्र कथन न प्रवर्तते अयोग्यवाद न प्रवर्तते यहाँ प्रधान आदि में क्यों नहीं लगता है प्रत्यक्ष अयोग्यवाद वहाँ क्यों नहीं लगता है असत्वा वहाँ से रथ ही नहीं है अतः असत होने से प्रत्यक्ष नहीं जाता यहाँ है फिर भी क्यों नहीं जाता है अयोग्यत्व यहाँ कहेंगे सप्तवा रथ है अयोग्य ये नहीं कहा जा सकता है कि रसना इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर पा रही सर मैं रस का किसका प्रत्यक्ष रस का किससे प्रत्यक्ष होगा रसना से हाँ। गुणा गुणग्रम रसना रसनाग्राह्यो गुणा रसा रसनाग्राह्यो गुणा रसा स च षड्विधा वेदात वही कहना चाह रहे निश्चित निश्चित अध्यवसाय मानो तो निश्चित उसका कहा तुमनंत प्रयोग है अध्यवसातुम माने निश्चितुम अध्य का ये अध्यवसातुम अध्यवसातुम अध्यवसुतुम लिखा है ना इसमें दीर्घ कर देते इसमें अध्यवसुतुम अध्यवसत है ना अध्यवसुतुम अध्यवस तुम माने तुम हाँ निजंत में निश्चय तुम निजंत में निश्चेतुम अध्यवसा अध्यवस तुम इति अभिप्राय अतः वहाँ असत्वा सप्तम रस में प्रत्यक्ष नहीं लगता अयोग्यात नहीं कह सकते हैं आगे कहने जा रहे हैं किम पुनस्तत्कार्यम वो कौन चीज है यथा प्रधानम अनुमान मन वह कार्य क्या जिससे प्रधान का हम सिद्ध करते हैं अनुमान के द्वारा तो का सारूप वैरूपे आहा उस प्रधान की उपलब्धि में क्या प्रमाण है तो कहने लगा सारूप वैरूप रूप जो कार्य है वह प्रमाण है क्या प्रमाण है सारूप्य और वैरूप्य रूप जो कार्य है मन केनचित धर्मेण तत्वानाम परस्परम साधर्म्यम और केनचित धर्मेण तत्वानाम परस्पर वैलक्षण्यम समा, सम, समानो धर्म एशांते सधर्माण धर्मादन केवलात् सधर्म सधर्माण सधर्मण सधर्माण तस्य भावा साधर्म्यम और विगता धर्म ऐसा विधर्माण तेषाम भावा वही धर्म्यम एक वचन बनेगा विधर्मा और सधर्मा इसीलिए कह रहे हैं साधर्म और वैधर्म्य मान कीन धर्मीण नाम परस्परम वैधर्म्यम और कीन धर्मीण नाम परस्पर सादृश्यम यही कहने तो बताने जा रहा है वो, वो धर्म बताने उन्होंने शुरू कर दिया कौन सा तो कहने जा सारूप रूप विवेक ज्ञान उपयोगनी कार्य के विवेक ज्ञान में उपयोगी कौन है उपयोगिनी कहाँ का रूप है उपयोगी उपयोगिनी उपयोगिनी कहाँ का रूप हुआ दंडिन दंडी दंडिनी दंडिनी उसी प्रकार उपयोगी उपयोगिनी उपयोगिनी हाँ दीर्घ हो जाएगा ना उपयोगिनी नी छोटी हो जाए अच्छा हाँ, हाँ हाँ ये छूट गया हम आगे वाला चले गए जाऊंगा किम पुनस्तत्कार्यम यथा प्रधान इत आहा महादाजी तत्कार्यम मन उस प्रधान का कार्य कौन है महादादी तत्त माने प्रधान से कार्यम महादादी और महादादी प्रकृति स्वरूप भी है और विरूप भी है एतच्च मया गमकम तथा उपरिष्टात उपपाद उपपाद इष्यते उपपाद इष्यते इन्होंने लिखा चौदह और पंद्रवा कार्य का आने वाले उसमें स्वयं उपपादन करेंगे कि यह जो हमारा महादादी जो कार्य है वो कैसे कार्य के द्वारा प्रधान का जी कैसे कार्य है फिर प्रधान का कैसे अनुमान होता है इसलिए उनका आगे चलकर हम बताएंगे तस्य माने कार्यस्य वह उस कार्य का क्या है उन दोनों में कार्य क्या है वो स्वरूप है तो कार्य प्रकृति स्वरूप भी होता है जैसे मिट्टी है घट और मिट्टी से विलक्षण भी, भी है तो वह आकार उसका वैधर्म होगा अमृतिकत्व सारूप्य तो हाँ उपयोगिनी सारूप वैरूप्य कर्म का द्वितीय का आह हिल का प्रथमा द्वितीय का नहीं है द्वितीय व्यक्ति में ही रूप बनेगा तो द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन का रूप है कार्य से विवेक उपयोगिनी कौन सारा सारूप रूपे आह आह इस क्रिया का कर्म है प्रकृति स्वरूपम विरूपंचा माने प्रकृति स्वरूप है किंचित एक मन सारूपेण का मतलब हुआ केन चित धर्मेण तत्वानाम साधर्म्यम और केन चित धर्मेण तत्वानाम परस्पर वैलक्षण्यम वो कौन सा चीज है प्रकृति स्वरूपम विरूपंचा वही कहने जा रहे हैं कि प्रकृति सारूप वैरूप अभी अभी आने वाली ये कौन कारिका है आठ नौ दस में उस प्रकृति के स्वरूप और वैरूप को बताने वाले हैं इसीलिए वही कहा पुनः लिख दिया क्या लिख दिया एते तो उपरिष्टात विभजनीय विभजनीय कहाँ का रूप है द्विवचन का मान सारूप बहिरूपे विभजनीय किसके द्वारा एते उपरिष्टात एते भी द्विवचन का रूप है एते सारूप बहिरूपे विभजनीय उपरिष्टात मान आगे कौन सी कार्य आने वाली है दस और ग्यारहवीं कारिका में बताएंगे अब कारिका का सबसे पहले अनोमी कारिका का उपक्रम कहने कार्यात कारणम मात्रम गम्यते देखिए भाई आप विचित्र आदमी हैं आपने कार्यता के द्वारा प्रधान की कल्पना करने जा रहे हो कार्य केवल कारण की कल्पना कराता है ये प्रधान ही कारण है कैसे कल्पना करेगा नैयाय कहेगा कार्यतः परमाणु उपलब्धि वेदांति का एक ब्रह्म उपलब्धि माया कुछ भी कहेगा अन्य दूसरे क्या कहेंगे शून्यवादी क्या कहेंगे असद उपलब्धि तो सब लोग किसी न किसी कार्य के द्वारा कारण की कल्पना करेंगे परंतु प्रधान ही कारण होगा ये कैसे कल्पना करेंगे तो अन्य मतों का निराकरण कर रहे हैं कि माने कार्य के द्वारा अभाव जो असत कार्य शून्यवाद का कल्पना नहीं कर सकते ऐसे तीनों चारों जो मत उनका निराकरण करने वाले हम्म। इस श्लोक के द्वारा आगे वाले से कोई उपक्रम बना रहे हैं कि आपने कार्यता रूप हेतु के द्वारा क्या कल्पना करना चाह रहे हैं कि प्रधान ही कारण है हम तो कहते हैं कार्यता के द्वारा हम कल्पना करेंगे कि परमाणु कारण है घट जो असत माने घट पहले नहीं था फिर पैदा हुआ असत हुआ तो या असत जो हो करके किसी कल्पना करेगा अपने कारण की कल्पना करेगा तो परमाणु होगा ये निश्चित कैसे करेंगे प्रधान ही है उस पर ही सब पूर्व पक्ष बना रहे हैं कार्यतः कारण मात्रम गम्यते कार्य से केवल कारण मात्रम गम्यते एक है ना तो भाषा गुणेश त्रियाम बने कहीं कारक उसी यहाँ पंचमी हुई गम्यते कार्यात इसे गाया धूम पर्वतो वन्यमान धूमात यहाँ धूम में किसी उचित योगी भागात भाषा गुण से विभाषा योगो विभज्यते उसी से पंचमी होती है वही पंचमी होगी तो किस सूत्र से भाषा गुण स्त्रियाम से ही कहाँ पर पंचमी हुई है कि कौन सा मन कार्यात कारण मात्रम गम्यते ज्ञाते इतना है कार्य से कारण होता है संत वादी नाम भी प्रतिपत्तया वादी जो दूसरे लोग हैं उनकी अनेक संदेह अलग अलग है कोई कारण मानता परमाणु को कोई कारण मानता शून्य को कोई कारण मानता है ब्रह्म को तो कैसे प्रधान कोई मानेगा वही सुंदर कह रहे हैं कार्य कार्यता के द्वारा आप कार्यता दर्शन रूप बल के द्वारा आप कारण की कल्पना करो ठीक हम मानते हैं परंतु यही कारण निर्धारित नहीं कर सकते आप इसलिए प्रधान कारण का निश्चय कार्यता लिंग से भी नहीं होगा वही पूर्व संत छात्रवादी नाम विप्रतिपत्तया मन विभिन्ना विभिन्ना मतया विप्रतिपत्तया विप्रतिपत्ति में संदेह अलग अलग विभिन्न भिन्न जो मत हैं वह कारणतावादी में अलग अलग दार्शनिकों के वही वादी नाम मान दार्शनिका नाम किम संति विप्रतिपत्तया विभिन्न विभिन्न मतया अलग अलग सबके मत हैं तथा ही पहला सबसे पहले एक विप्रतिपत्ति दिखा रहे हैं किनकी मत में विप्रतिपत्ति तो शून्यवादी के मत दे रहे हैं अतता सज्जायते माने असता शून्यता एव जगता परमार्थता बौद्धा नाम मते असत से असत माने अभावात सत यह जगत उत्पन्न होता है असत का यहाँ क्या है अभाव तो अभाव से क्या होता है समग्र जगत की उत्पत्ति होती अभाव मानी शून्य से ये किन का मत हुआ बौद्ध मत एक अथता सज्जायते एक कर दिया एक ने कहा नहीं एक सतह एक जो ब्रह्म है उसी का सब विवर्त है वेदांति ने कहा सत ब्रह्म का यह विवर्त है कार्य जातम न वस्तु सत ये तो उन्होंने दूसरे ने क्या कहा ये संपूर्ण जो जित कुछ जो कुछ है असत का से उत्पन्न हुआ सत वो लोग देते हैं इसे अंकुर है अंकुर कब उत्पन्न जब बीज को मार देता है तब अंकुर पैदा होता है ऐसा बौद्धों की कल्पना है कि बीजम बिना विनस्य तदा अंकुरो जायते मैंने बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है बीज नष्ट हो जाता है तब अंकुर उत्पन्न होता है दुग्ध नष्ट हो जाता है तब दधि बनता है एतावता विनिष्ट मृतगात घटा उत्पद्यते ऐसा उनका मत है अतः भाव कार्य अभाव कारणक कार्य है अभाव है कारण जिसका ऐसे अभाव कारणवादी कौन बौद्ध हो गए फिर दूसरा उन्होंने कहा क्या कहने जा रहे हैं विवर्तवादी जैसे रज्जू में क्या सर्प की उपलब्धि होती है केवल उपलब्धि मात्र है वो कुछ रहता ज्यो का त्यों है उसमें विवर्तमन दिखाई देता है है को तत्व अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरिता माने उसमें तत्वता कुछ बदलेगा नहीं फिर भी दूसरा दिख जाएगा जैसे रज्जू में सर्प दिख जाता है उसी प्रकार ब्रह्म में संपूर्ण प्रपंच दिख जाता है जैसे मुख है अनेक मणि कृपाण दर्पण के होने पर वह उस प्रतिबिंब में क्या होता मुख में अनेकता दिखने लगती है है मुख एक वेदांती वेदांति मत हुआ एक सतो विवरता एक माने जो त्रैकाल बाद शून्य जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का विवर्त है या जगत विवर्ता किम जगत विवर्त है ये सुक्ति का विवर्त क्या है रजत है उसी प्रकार विवर्त माने दिखने में तो आता है कुछ नहीं ये तो इनका मत हुआ न वस्तु सत्य वस्तु है ऐसी बात नहीं है इति अपरे माने वेदांति न इसके बाद तीसरे आए वस्तु सत हाँ? नहीं है सत नहीं है क्योंकि इसे कब तक प्रतीति तक तो सत है आगे उत्तर में सत नहीं है इसे रज्जू में सर्प कब तक जब तक प्रतीति है और जहाँ रज्जू का प्रत्यक्ष हुआ तो सर्प नाम की वस्तु सत रहेगी नहीं रहेगी ये किनका बताया उन्होंने वेदांतियों का अब आगे अन्य तू सतो असज्जायती सत माने भाव पदार्थ नैयायिक लोग भाव से यह मिट्टी भाव है उससे घट उत्पत्ति मानते घट पहले नहीं था तो असत होकर उत्पन्न हुआ घट सत माने भाव द्रव्य गुण कर्म इनसे भाव पदार्थ कहते हैं तो सतः भाव पदार्थात असत पूर्वम असन इदानीम घटह जायते पहले घट नहीं था अब घट आया है पहले घट क्या था असत था इसलिए इनको भी क्या बोलते असत कार्यवादी इनका भी नाम क्या है अनुवादी किनका इन्हें बोलते आरंभवादी जिन्होंने यहाँ नया घट आरंभ हुआ है कारण में नहीं था इसलिए इनका नाम दूसरा क्या है आरंभवादी किनको वही क्या अभी नैयायक वाला अन्य तू सतः भाव रूपात परमाणादि ही असत मन पूर्वम अविद्यमानम दुणकादिकम जायते पहले अविद्यमान जो दुणकादि थे उत्पन्न हुए यह मत किन का हुआ कणाद यो हो अक्षपाद और कणाद माने जो कण कण ग्रहण करता था उसका नाम क्या कहते थे कणाद और पैर में देखते थे अक्षपाद उनका नाम वही बताने जा रहे हैं एक एक सब का मत लिखने जा रहे हैं दूसरा बताने जा रहा है सत सज्जाते इति वृद्धा माने ये सांख्या अपने सांख्य लोगों के लिए पूर्व आचार्य लोग क्या है उनको सांख्याचार कहते हैं सत्य से भाव रूप प्रधान आदि से भाव रूप ही क्या होता है उत्पन्न होता है यद्यपि सत्कार्यवादी वेदांति भी है जब प्रकृति से चलने पर अंतर यही है बहुत अंतर है इसलिए उन्होंने विवर्तवाद वाला पक्ष लिख दिया इन्होंने कौन सा लिख दिया मां जिसमें उनका एकदम पक्का सिद्धांत है तो इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया एक सतो विवर्ता कार्य जाता इसमें वाला मतलब चार मत आ गए तो ने कहा असत से सत्य की उत्पत्ति एक सत से फंगपूर्ण जगत विवर्त हुआ वो सत नहीं है और अन्य ने कहा सत से असत जाए थे और अपना कह दिया सत से सत जाए थे मान सत से सत की उत्पत्ति होती है ये सब का अपना अपना थोड़ा थोड़ा इन्होंने क्या कर दिया लिख दे रहे हैं अब आगे लिखने जा रहे हैं तत्र पूर्वस्मिन कल्पत्र तीन कल्प कौन कौन हुए असत सज्जाए थे एक सता विवर्त दूसरा और तीसरा है असता जाए तो ये तीन जो कल्प हैं ये प्रधान को सिद्ध नहीं करने देगा एक सिद्ध करेगा भाव को एक सिद्ध करेगा ब्रह्म को और एक सिद्ध करेगा भाव को मैंने कौन परमाणु को और कौन प्रधान को सिद्ध करेगा सत सज्जाएगा वही कहने जा रहा है तद पूर्वस्मिन कल्पत्रयी जो तीन कल्प हुए माने कौन कौन तीन कल्प हुए बलने वाले असता सज्जाते एक सतो विवर्ता न वस्तु सत अन्य दु सतो असज्जायते और चौथा बचेगा सत सज्जायते उनका तो पर तीन कल्पों में कार्य ज्ञान याद सम कारणम मैंने कार्य ज्ञान के द्वारा जिस प्रकार का प्रधान कारण है उस प्रधान कारण की सिद्धि नहीं हो सकती तत्र पूर्वस्मिन कल्पत्र प्रधानम न सिद्ध्यति क्यों नहीं सिद्ध होगा सुख दुख मोह भेदवत स्वरूप परिणाम शब्दाध्यात्मक जगत कारण से प्रधान से तमा स्वभावत्व हाँ माने यह संसार कैसा संस्कार स्वरूप बताने जा रहा है कैसा है तो जगत इस प्रकार का तो का कारण भी कैसा होना चाहिए इस प्रकार का जगत में पहला विशेषण देने जा रहा सुख दुख मोह भेदवत भेद का मतलब विशेषवत यहाँ भेद शब्द किसका पर बोधक है विशेष का मन सुख दुख मोह रूपा ये भेदा विशेषा ते विद्यंते अस्मिन भेदवत लिखा है ना तो हाँ तदस्य अस्मिन मतलब करना है मन सुख दुख मोह रूपा ये भेदा भेदा मन विशेषा संति यत्र माने यस्मिन तत् सुख दुख मोह भेद बत याद स्वरूपम मन सुख दुख मोह भेद विशेष रूप जो स्वरूप याद स्वरूपम तेसाम मन एसाम ते सुख दुख मोह भेदवत स्वरूपा फिर आगे एक स्वरूप और लगाया पहले क्या किया मत मतलब प्रत्यय किए मैंने सुख दुख मोह विशेषा एसाम मन एसाम यत्र संति ये हो गए कौन हमारा सुख दुख मोह भेदवत फिर कहना सुख दुख मोह भेदवत स्वरूपाणी एसाम एसाम ते मन एतादृशम स्वरूपम ऐसाम ऐसा मन सुख दुख मोह भेद स्वरूपा ते के परिणाम अन्य पदार्थ कौन हुआ परिणाम उन परिणाम कहेंगे सुख दुख मोह भेदवत स्वरूप परिणाम जो परिणाम कौन शब्दाध्यात्मकम शब्द तन्मात्रा रस तन्मात्रा रूप तन्मात्रा गंध तन्मात्रा यही तन्मात्रा पंच मात्रात्मक पंच मात्रादि रूप शब्दादया एव आत्मा स्वरूपम पुनः लिखना शब्दाद्यात्मकम कितना समाज करना पा चार पांच समाज पहले हुआ हमारा सुख दुख मोह हमें यहाँ पर कर्म धारा करके फिर हमने मतुप किया फिर मतुप के द्वारा स्वरूप में बौरी ही किया बौरी के बाद पुनः कर्म धारय किया फिर कर्म धारय के बाद में यहाँ पर भी क्या कहना है ते एव आत्मा इसलिए क्या करने जा रहा है पुनः बहुब्रीही कर माने कर्मधारय करने जा रहे हैं उसके बाद माने कर्मधारय ने बहुब्रीही करने जा रहे हैं इसलिए हो जाएगा माने मोह सुख दुख मोह भेद बत स्वरूप परिणाम शब्दा आत्मना बहुचन के तो आत्मना स्वरूपाणी आत्मना ईशाम तानी माने ते, ते माने सुख दुख मोह वत स्वरूप परिणाम परिणाम शब्दाध्यात्मका तेसाम भावा सुख दुख मोह भेदवत स्वरूप परिणाम शब्दाध्यात्मक इति जगत कारण से जगत का कारण ऐसा होना ऐसा जगत है तब उसका कारण भी इसी प्रकार का होना चाहिए एवं विध जगत कारण से प्रधानम कार्य दर्शनाथ थी मान जगत का कारण जो प्रधान है ये सब कार्य हैं इन कार्य को देख करके जगत का जो कारण जो प्रधान जो प्रधान का स्वरूप हुआ सत्य रज तम स्वभावात्मक उसकी सिद्धि होती है माने प्रधान शब्द के प्रकर्षण वैषम्यावस्था परिहारेण धीयन्ति निधीयन्ति विद्यन्ति गुणा यस्मन तत्प्रधानम माने जो प्रकर्ष रूप से वैषम्य अवस्था को छोड़ करके जहाँ सत्वर तीनों गुण जहाँ स्थित हो जाते हैं साम्यावस्था में उसका नाम है प्रधान माने कैनु पर वित्पत्ति माने प्रकर्षेण धीयन्ते प्रकार से क्या है वैरूप शून्यत्व मैंने वैषम्यादि अवस्था परिहारे न धीयन्ते माने निधीयन्ते निधीयन्ते माने विद्यन्ते सत्वादि गुणा यस्मिन तत् प्रधानम तस्य भावा प्रधानत्व अधिकरण में गए अधिकरण में गए सप्रधानम माने अधिकरण में लुट प्रत्यय प्रधानम करणाधिकरणियों लुट ध्यान लिख दिया क्या इसमें हाँ लुट प्रत्यय ना अन है ना प्रधान में धातु से प्रधानम वो क्या है सत्व रज तम स्वभाव प्रधान क्या है सत्व रज तमा स्वभाव यह उन्होंने कह दिया यदि पुनः असता थे अब पहला खंडन कर रहा है एक एक का क्या करने जा रहा है यदि असत से सब भूमिका लेकर आए हैं पूरा श्लोक की आगे वाले नौवे श्लोक की है क्या चल रही है सब यदि हाँ भूमिका यदि असता सज्जाए तब मतलब जो बौद्धों का मत था कि यदि असत से सत की उत्पत्ति होती तो असत असत क्या चीज है निरुपाख्येयत्व निरुपाख्येयत्व नहीं उपाख्या शून्यत्व निरुपाख्येयत्व अनिर्वचनीयत्व निरपाक्षियत शब्द का अर्थ होता है अनिर्वचनीय उपाख्य माने कथन करना और निर्गता मन समाप्त उपाख्यानम यस्य जिसका वचन ही समाप्त हो गया है वो कहता है अनिर्वचनीय तो निरुपाक्य शब्द का अर्थ क्या है अनिर्वचनीय वही माने असत इनका असत कैसा है जिस असत का निरुपाक्ष है अनिर्वचनीय और अभाव रूप है इनका जो असत है वो अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय का मतलब होता है चतुष्कूट मुक्त सत असत सवय ऐसा करके लगाते हैं जो चतुर्कोटि से मुक्त हो बौद्ध का त्रिकोटि वेदांति का इसी से अलग अलग है हम्म। तो यही कहने जा रहे हैं ये भी अनिर्वचनीय मानते हैं तो असत इति निरुपाख्येयम अनिर्वचनीयम अभाव रूपम अनुपाख्या नहीं वर्णन नहीं किया जा सकता है जिसका कोई लक्षण नहीं बन सकता है तैयार नहीं कहा उसको बोलते निरुपाख्य यहाँ टिप्पणी में उपाख्या उपाख्यानम इदम एक वर्णनम ततो निष्क्रांतम निरुपाख्यम जो यह इस प्रकार का वर्ण इस प्रकार से अंगुली निर्देश करके इसे नहीं कहा जाए हो गया निरुपाख्य और हो गया अनिर्वचनीय अभाव रूप जगत कारणम आपद्यता नहीं हो सकता कथम क्या तो कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है इक्षत और असत का विरोध है क्योंकि कार्य और कारण में तादात्म संबंध मानते हैं लोग कौन लोग सांख्य लोग तो असत का सत के साथ तादात्म कैसे होगा सत तो असत का विरोधी हो गया तो असत कारण है और सत कार्य है और कार्य और कारण में क्या होता है तादात्म्य होता है तो तादात्म नहीं होगा तो कार्य कारण भाव नहीं तादात्म समवाय मान न्याय की दृष्टि में इसलिए सत असद रूप जो कार्य कारण उनके बीच में संबंध ही नहीं होगा संबंधा भावात या पक्ष प्रथम ठीक नहीं है कौन सा पक्ष हाँ क्यों कार्य कारण और मध्य तादात्म्यम भवती और सत असत विरोधात तादात्म्यम अनुपन्नम सत असत में क्या परस्पर इसलिए में हो नहीं सकता है इसलिए पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि अभेदेव तादात्म्यम अग्नि भी कहेंगे नवम कारिका में कार्यम कारणात न भिन्नम ये भी नवमी कारिका में कहने कार्य कारण से भिन्न नहीं है अतः कार्य कारण का भेद रूप जो तादात्म्य है इनके यहाँ नहीं बन पाएगा किनके यहाँ बौद्धों के यहाँ इसलिए कथम बहिष्ठत सतयो तादात्म्यानुपत्ते है अतः असत कारण नहीं हो सकता है क्योंकि कार्य कारण के बीच में तादात्म्य होता है अभेद होता है एक होता वह संभव नहीं है वही कहने चाह रहे हैं इसलिए उन्हें कार्य कारण भाव हो तादात्म्यम अनुपन्नम न संभवती तवाया विवर्तवादी वेदांति का मत मान लिया जाए क्यों यहाँ तक जा रहा है बौद्ध मत असत के साथ कार्य का संबंध तादात्म नहीं है तो वेदांति का सत है एकस्य सतः लिखा है विवर्त तो सत कारण है उसके साथ हो जाएगा तो कार्य से तादात उनकी मत में भी नहीं होगा क्यों एकस्य सतो विवर्ता शब्दादि प्रपंच सद माने सूक्ष्म भूत जिनको हम लोग सूक्ष्म भूत कहते हैं उनको यहाँ तन्मात्रा कहते हैं वहाँ भूतों को तन्मात्रा कहते हैं शब्द रूप रस गंध ये तन्मात्राएं हैं इन्हीं को बोलेंगे अपंचीकृत पंच महाभूत तो ये कर सता मन ब्रह्मण प्रपंच सद आदि या शब्द आदि रूप जो आकाश आदि जो ये क्या है विवर्त है तथापि सता सज्जायते करा वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक सत एक भ्रम है इन दोनों का तादात्म नहीं होगा वही कहने जा क्यों कारण से सदरूपत्व कार्य से गगन रूप एक मतलब असत है तो अतः इन दोनों में भी तादात्म नहीं हो सकता है इनके यहाँ उल, वहाँ उल्टा था मैंने कारण असत था कार्य सत था यहाँ कारण सत है और कार्य सत है इसलिए कैसे इसमें भी तादात्म नहीं बनेगा यहाँ भी सदो सदो संभव तादात्म नहीं बनेगा तो इसमें बड़ा लंबा कहता है एक सूत्र है तदन्यत्म आरम्भण शब्दादिभ्या ऐसा ब्रह्म सूत्र में तदन्यत्म माने इस कार्य और कारण में अभेद है शब्द शब्दावाचारंभणो विकारो नाम ध्येय मृतिका इतव सत्यम माने जो केवल घट या वाणी का विषय है देखा जाए तो घट में क्या निकलेगा मिट्टी के अतिरिक्त नहीं है तो कहे इस अनंत अमन तदन्य तुम आरम्भण शब्दादिव्या में इस सूत्र में तो कार्य और कारण में अभेद दिखाया गया है तो आप कह रहे हैं कार्य कारण में सत सत और असत में तादाद में कैसे होगा उस पर ये कहने जा रहे हैं वो थोड़ा बता इति कैसे इसलिए आगे वाली कार्य का लिख रहे नचा अस्य अद्वय इसमें अवतरण लगा रहे हैं नीचे टीकाकार तदन्य तुम आरम्भण शब्दादिभ्या इस सूत्र में कहा गया है कि कार्य और कारण का भेद होता है और आप कह रहे हैं हम वेदांत में कह रहे कारण कारण का भेद अभेद नहीं होता है वो तो मानते हैं वहाँ अभेद का मतलब कारण से अतिरिक्त कार्य की सत्ता रही कारण से अतिरिक्त कार्य की सत्ता ना होना ही वहाँ क्या है तादात में वेदांत अतः कारण का कार्य के साथ अनन्यत्व अन्यत्वा भाव अभेद बताया गया है वह सूत्र वेदांत मत में कैसे संगत तो होगा इस पर लिखने जा रहे न च अद्वयस्य ब्रह्मण जो अद्वय जो ब्रह्म है वह प्रपंचात्मक शब्दाद रूप प्रपंच रूपेण जो शब्दादि प्रपंच रूपेण परिमाणित्व न चा अभ्युपेयते उनका जो अद्वैक जो ब्रह्म है वह शब्द आदि प्रपंच रूप से वो मानता नहीं है अपितु अप्रपंच प्रपंचात्मकता है जो अप्रपंचात्मक कौन है ब्रह्म है उसी का प्रपंचात्मक केवल प्रतीति होती है वह प्रतीति क्या है भ्रम मात्र है मान जो प्रतीति है भान वो क्या है भ्रमात्मक है माने जो अप्रपंच से शब्द शब्दादि शून्य तस् ब्रह्मण प्रपंचात्मकतया भानम जैसे रजतादि शून्य रजतादि अवयव शून्य सर्पस्य रजतात्मना भानम जो रजतादि से शून्य है हमारा सुक्ति उस सुक्ति का रजत रूप में प्रतीति होना जैसे वह रज्जु है माने सर्पादि अवयव शून्य रज्जु इत्यस्य केन रूपेण सर्प रूपेण विवर्ता इसीलिए उन्होंने कहा अप्रपंच प्रपंचात्मकतया प्रतीतिर जो हो रही है वो भ्रम भ्रम है अतः सूत्र में जो अभेद कहा गया कारण माने ब्रह्म से परमार्थता कार्य का अभाव यही अर्थ है उसमें मान कारणात अतिरिक्तम कार्य अस्तित्व नास्ति जैसे सुक्ति अतिरिक्तम सुक्त प्रतीयमान रजत से अस्तित्व नास्ती तदवत कहना चाह रहा है अब इनका कहने उससे कैसे होगा मृतिका इतव सत्यम उन्होंने कहा बाचारम्भण विकारो नाम नामधेयम विकारणीभूत मृतिका मात्र सत्य यह उदाहरण करता है घटादि का मिथ्या प्रतिपादन करता है वही अतः तब भी इनके मत में कार्य और कारण में अभेद नहीं सिद्ध हुआ निश्चित हो गया किनके मत में वेदांत के मत में अब इनका कहने का दूसरा आया भैया अब कणादि का मत आया माने कण भक्त माने वैशेषिक दर्शन करता कौन कण कण कण साधान एक एक कण करके खाते थे बिन बिन करके इसलिए उनका नाम है कण भक्ष और अक्षपात मन पैर से उनको कोई श्राप देते थे ऋषि तो पैर से ही देखते थे अच्छा। इसलिए उनका नाम है अक्षपाद तो उनका नाम क्या है अक्षपाद किनका अक्षपाद है एक कणाद मुनि हो गए कौन वैशेषिक शास्त्र के कर्ता और अक्ष चरण कौन हो गए न्याय दर्शन के कर्ता गौतम मुनि हाँ अब उनकी जो प्रशस्त पादभाष कौन है बासायन आदि यही लेने जा रहा है ऐसा मपी क्या लिखने जा रहा है उन्होंने ऐसाम मते उपजोड़ दी मत ऐसा ऐसाम मते पी कर्ण मैंने ऐसाम कर्ण भक्ष नाम मते सतैव कारणात असत जन्म उन्होंने जो सत हो गया परमाणु उससे असत कौन हो गया घटा दुणकादि उनकी उत्पत्ति होती है तो उनकी मत में तेसाम अपी सद असद हो गया सत हो गया हमारा कारण असत हो गया कार्य पुनः तादात्म नहीं बनेगा तीनों के मत सत असत आ गया पहले वाले असत से सत दूसरे वाले में सत से असत तीसरे वाले में भी सत से असत देखा जाए भ्रम लगा करके सब जगह सदसदो हो कितनी युक्ति से सिद्ध किया भामतिकार भा, भा, मिश्र कितना युक्ति से तीन को सदसद बना दिया और एक को केवल सबसे सद उत्पन्न करने जा रहे हैं पे सदसदो एकत्वान मन एकत्व अभेदानुपत्तिर न कार्यात्मकम कार उनके मत में भी कार्यात्मक कारण नहीं हो पाता अतः तन मते न प्रधान सिद्धि उनके मत में भी प्रधान सिद्धि नहीं होगी तब अपने मत से सिद्ध करेगा क्या करने जा रहे हैं अपने मत न सिद्ध्यति किम नाच मन प्रधान आदि के सांख्य के मत में भी अब सिद्ध करने जा रहे क्या अतः प्रधान सिद्धार्थम प्रथमम तावत सत्कार्यम थे माने सबसे पहले प्रधान की सिद्धि के लिए पहले सतवादवाद की प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रतिजानीते मैंने प्रतिज्ञा करोती मैं न्यायिक में तो कारण व्यापार के अनंतर कार्य का व्यापार बोले कारण होगा तब क्या होगा का, मैंने कारण क्या व्यापार करेगा तो उसके अंतर में क्या उत्पन्न होता कार्य उत्पन्न होता है अतः सदैव सिद्धम साधनम अतः उसका इसलिए लिखने कारण व्यापारात प्रागपि यहाँ से वो शुरू करने वाले हैं एक चीज क्या आया यहाँ कार्य का आ गई ना आप तो हाँ हाँ यही रख कर, कर जाए यही छोड़ देते हैं